ये दिसंबर के लास्ट दिनों की बात है नया साल बस आने ही वाला था मुंबई और बदलापुर के बीच बने हुए इस नए हाईवे पर सिर्फ एक ही टनल बनी हुई थी ये टनल लगभग पांच या छह किलोमीटर लंबी थी अभी इस टनल को बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे उस दिन वो बस बदलापुर से चलकर मुंबई के लिए आ रही थी रास्ते में अचानक से जोर के धमाके की आवाज आई और पूरी सुरंग में धुआं भर चुका था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अचानक से बस भी सुरंग के एक दीवार से टकरा कर खड़ी हो गई और वहां उसके ऊपर लगातार पत्थरों के गिरने की आवाज आनी शुरू हो गई थी पूरी बस में भयानक चीख पुकार मच गई बच्चों के रोने और औरतों के चीखने की आवाज गूंजनी शुरू हो चुकी थी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया था बस की छत पर भारी पत्थर गिरने से ये पिचक कर फर्श तक आ चुकी थी बस के चारों तरफ भी काफी पत्थर गिरे हुए थे आ ओ ये क्या आ लोगों के चीखने के साथ ही जोर जोर से खांसने की भी आवाजें आ रही थी न जाने कहां से धूल और धुएं का गुबार इतना ज्यादा हो गया था कि बस के अंदर भी कुछ सेकंड के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तभी बस का ड्राइवर किसी तरह बस के सामने वाले मिरर की जगह में से बाहर निकला उसे भी बहुत भयानक चोट आई हुई थी उसके मुंह और माथे से काफी ज्यादा मात्रा में खून बह रहा था वो धुएं और धूल से परेशान होकर बहुत जोर जोर से खांस रहा था इसी तरह बस में से बाहर निकलने के बाद उसने खांसते हुए ही कहा सब लोग खूं खो खो सब लोग अंदर ही रहो लग रहा है ये टनल टूट गई है काफी सारी गाड़ियां इधर फंसी हुई हैं ओ खो आप आप लोग परेशान मत होइए रेस्क्यू टीम जल्दी ही यहाँ आ रही होगी जब रेस्क्यू टीम आ जाए तभी बाहर निकलना है मीना मीना उठो उठो नहीं मीना आंखें खोलो जल्दी मुकेश अपनी पत्नी को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस औरत की तरफ से कोई भी हरकत नहीं नजर आ रही थी उस औरत का शरीर सीट और झुकी हुई छत के बीच में फंसा हुआ था अब तक शरीर से काफी खून बह चुका था सांस आनी भी काफी देर से बंद हो चुकी थी रॉकी रॉकी आह बेटा उठो उठो रॉकी जब मुकेश ने अपने इर्द गिर्द नजर डाली तब उसे वहां पर अपने बेटे की लाश भी दिखाई दी वो बस के बाहर पड़ा हुआ था ना जाने कैसे वो बस से धक्का खाकर बाहर जा गिरा था वहां वो एक पत्थर के नीचे दबा पड़ा था उसकी भी सांस आनी बंद हो चुकी थी मुकेश बस के भीतर दहाड़ मारकर जोर जोर से रोने लग गया था मुकेश खिड़की के रास्ते बाहर निकलकर अपने बेटे के पास जाने की कोशिश करने लग गया लेकिन बाहर का नजारा देखकर वो बस से निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका अभी भी बाहर काफी धूल उड़ता नजर आ रहा था साथ में लगातार पत्थर और चट्टान के गिरने की आवाज भी आ रही थी ऐसा लग रहा था कि आज ये पूरी टनल ही गिरकर खत्म हो जाएगी मम्मी आ माँ आ दूसरी तरफ बस में छोटी सी लड़की अपनी माँ को बुलाते हुए रोए जा रही थी इस लड़की का नाम सोमानी था सोमानी चक्रवर्ती उसकी उम्र महज चार या पांच साल रही होगी उसे भी भयानक चोट लगी हुई थी उसकी आंत वगैरह भी बाहर आ चुकी थी उसकी माँ भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी शायद उनकी भी जान जा चुकी थी आ, बेटा बेटा उधर मत देख उधर मत देख मेरी बच्ची सुमानी की दादी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया वो उसकी आंखों में भरे हुए आंसू को पहुंचने लगी हे राम बस के बीचों बीच में मिस्टर और मिसेस मेहता बैठे हुए थे उन दोनों को भी चोट लगी हुई थी लेकिन फिर भी उनकी हालत थोड़ी ठीक ही थी उसके बाद मिसेज मेहता ने किसी तरह से मिस्टर मेहता का हाथ पकड़ते हुए उन्हें सीट से बाहर निकाला मिस्टर मेहता के सिर में बहुत हल्की सी चोट लगी हुई थी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था क्या हुआ क्या हो गया ओह बस के सबसे पीछे वाली सीट पर सुमोना अरोरा बैठी हुई थी उसे भी ज्यादा चोट नहीं लगी थी सुमोना सबसे पूछ रही थी क्या हुआ ये टनल कैसे टूट गई कोई भूकंप आया था क्या फोन मेरा फोन कहाँ गया आ, तब जाकर सुमोना ने बस के फर्श पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया फिर उसके बाद तुरंत ही उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दिया उसने इमरजेंसी नंबर पर फोन करके यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताया इमरजेंसी नंबर वालों ने बताया कि उन्हें पहले ही यहाँ के बारे में पता लग चुका है वो लोग जल्द से जल्द अपनी टीम लेकर यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए निकल चुके हैं जिस वक्त सुमोना इमरजेंसी नंबर पर बात कर रही थी उसी टाइम बस की सेकंड लास्ट सीट से एक औरत की आवाज आ रही थी बेटा बेटा तो ठीक तो है हाँ आ वहाँ वो औरत धूल और धुएं से सनी हुई कराह रही थी उसने अपने बेटे को अपने से चिपका रखा था लेकिन उस औरत की आवाज दर्द से करा रही थी माँ मैं मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ वो छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपक कर रोते हुए बोला तू ठीक है इतना कहकर वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी उसकी माँ की पीठ में से एक लोहे की रॉड आर पार हो रही थी हालांकि उसकी माँ की सांस अभी भी चल रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वो कुछ ही पल में मौत के मुंह में जाने वाली है माँ तुझे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा तुझे लड़के ने अपनी माँ को गले से चिपकाकर रोते हुए कहा रोनित बच्चे डरो मत मेरा बच्चा डरो मत कुछ नहीं होगा मैं ठीक हूँ उसकी माँ जानती थी कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है और बड़ी मुश्किल से ही उसकी जान बच सकती है लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को झूठी सांत्वना देते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी ठीक है ठीक है सुमोना ने अब तक फोन रख दिया था उसने सभी को बताया कि एनडीआरएफ की टीम जल्द ही यहाँ पहुंच रही है आप लोग चिंता मत कीजिए वो लोग बहुत जल्दी हमें यहाँ से निकाल लेंगे माँ सुना तूने अब हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे तू चिंता मत कर तुझे कुछ नहीं होगा रोनित ने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा अभी भी उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहा था सभी को यकीन था कि बहुत ही जल्द उन्हें यहाँ से बचाकर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा लेकिन चूंकि बस सुरंग के बीचों बीच फंसी हुई थी और बस सुरंग के टूटे हुए पत्थरों ने बस को चारों तरफ से घेर रखा था इस वजह से एनडीआरएफ की टीम को उन तक पहुंचने में सात दिन का वक्त लग गया था सुरंग की शुरुआत से लेकर वहां तक कई सारी गाड़ियां फंसी हुई थी और वहां पर काफी मलबा भी था एनडीआरएफ की टीम दिन रात लगकर काम कर रही थी उसके बावजूद उन्हें बस तक पहुंचने में सात दिन लगे तब तक बस में सवार कई लोगों की मौत हो चुकी थी और यहाँ पर पड़ी लाश से भी स्मेल आनी शुरू हो गई थी अंदर का माहौल बहुत ही दर्दनाक और डरावना था क्योंकि तो बस सिर्फ बदलापुर से लेकर मुंबई के बीच चलती थी ऐसे में बस में सवार लोगों के पास खाने पीने का ज्यादा सामान भी नहीं था सबसे ज्यादा दिक्कत वहाँ खाने की ही थी वहाँ फंसे लोगों ने एनडीआरएफ की टीम और इमरजेंसी नंबर पर कांटेक्ट करके जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की भी गुहार लगाई लेकिन वहां से पता चला कि बस सुरंग के किनारे से तकरीबन तीन किलोमीटर भीतर है और पूरी की पूरी सुरंग ढह चुकी है एनडीआरएफ की टीम को पूरा मलबा हटाने में एक हफ्ते तक का समय लग सकता है शुरू में एक दो दिन तक तो फिर भी हालत ठीक ही थी जो व्यस्क लोग थे उन्होंने किसी तरह से खुद को संभाले रखा था और जो कुछ भी खाने का सामान उनके पास था वो सब बच्चों में बांट दिया था लेकिन दो दिन गुजरने के बाद बस में एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था तब बस के ड्राइवर ने एक बार फिर से बस से बाहर निकलने की कोशिश की वो किसी तरह से बस से बाहर भी निकल गया लेकिन फिर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ चारों तरफ का रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा था अंत में हार कर फिर से वापस बस में आ गया यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगले सात दिन तक ये लोग क्या खाकर जिंदा रहेंगे दो तीन दिन बीतने तक सभी की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी सब भूख और प्यास से व्याकुल थे मम्मी मम्मी रोनित ने रोते हुए अपनी माँ से कहा उसकी रोती हुई आवाज ने बस में बैठे सभी लोगों का ध्यान खींच लिया था ये बात बस एक्सीडेंट के दूसरे दिन शाम की है रोनित ने अपने हाथ में दूध का एक बोतल लिया हुआ था उसने अपनी माँ की तरफ बोतल बढ़ाते हुए कहा माँ थोड़ा दूध पी लो ना मेरे भाई को भूख लगी होगी माँ पी लो ना दूध रोनित की माँ उस वक्त प्रेग्नेंट थी अभी भी उनकी सांस बहुत हल्की हल्की चल रही थी उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंख खोली और अपना हाथ रोनित की तरफ बढ़ा दिया रोनित ने भी जल्दी से दूध का बोतल अपनी माँ के मुंह पर लगा दिया बामुश्किल वो एक या दो घूटी दूध पी सकी होगी तभी बस में एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी दादी दादी मुझे भी भूख लगी है मुझे भी दूध चाहिए दादी दूध दो ना ये आवाज चार साल की छोटी बच्ची सोमानी चक्रवर्ती की थी रोनित के हाथ में दूध का बोतल देखकर वो अपनी दादी से रोते हुए जिद करने लग गई जाहिर है वो भी उस वक्त काफी भूखी रही होगी इस बच्ची की जिद ने बस में फंसे सभी लोगों की आंखें नम कर दी उस वक्त सबकी नजर रोनित के हाथ में पड़े हुए दूध की बोतल पर टिकी हुई थी लेकिन रोनित इस वक्त किसी भी हालत में अपनी माँ को दूध पिलाकर उनकी और उनके पेट में पल रहे अपने भाई की जान बचाना चाहता था रोनित की माँ ने भी दो तीन घूट भी दूध पिया उसके बाद उन्होंने अपना मुंह दूसरी दिशा में कर लिया ऐसा लग रहा था कि अब वो कुछ ही सेकंड की मेहमान थी माँ उठो उठो दूध पियो माँ उठो माँ रोनित बनर्जी अपने हाथों में दूध की बोतल लिए बार बार अपनी माँ के मुंह पर लगाने की कोशिश कर रहा था बेटा तेरी माँ सो रही है उसे सो लेने दो समानी की दादी ने रोनित की तरफ देखते हुए कहा बेटा ये देख ये बच्ची रो रही है बस थोड़ा सा दूध दे दे बहुत भूखी है बेचारी भूख के मारे रो रही है बस एक घूट दे दो बेटा रोनित अपने हाथ में दूध का बोतल लिए हुए अपनी माँ की तरफ देखने लगा उसकी माँ ने भी रोनित की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया मानो वो रोनित से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला आखिर में रोनित ने अपनी मांग की मनसा को भाप लिया था उसने दूध की बोतल को उस बूढ़ी औरत के हाथ में पकड़ा दिया आ, मेरा बच्चा जुग जुग जियो मेरा बेटा बहुत आशीर्वाद मिलेगा तुझे उस बूढ़ी औरत ने रोनित का दिल से शुक्रिया अदा किया उधर अब तक सोमानी जोर जोर से रोने लगी थी लेकिन जैसे ही उसके हाथ में दूध का बोतल पहुंचा उसका रोना बंद हो गया उसने तुरंत ही दूध का बोतल अपने मुंह से लगाकर इसे पीना शुरू कर दिया ना ना बेटा नहीं पूरा मत पियो रुको रुको उसकी दादी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन तब तक सोमानी पूरा दूध खत्म कर चुकी थी आंटी थोड़ा सा दूध मुझे भी दे दीजिए मेरे पेट में बच्चा है भूख लगी होगी उसे भी थोड़ा सा दे दीजिए बस सुमोना अरोरा ने आंखों में आंसू लिए हुए बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन अब तक सोमानी पूरा दूध खत्म कर चुकी थी जब उसने बोतल वापस किया तो उसमें मुश्किल से एक दो बूंद ही दूध बचा हुआ था आंटी रुको मैं मैं देता हूँ ना दूध मेरे पास और है रोनित ने सुमोना की तरफ देखते हुए कहा मेरी माँ के पेट में भी मेरा भाई था वो नहीं बचेगा अब आंटी लेकिन आप आपके बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा रुको रोनित ने अपने बैग में से दूध का दूसरा बोतल निकालकर सुमोना के हाथों में पकड़ा दिया सुमोना रोनित के व्यवहार को देखकर अवाक रह गई उसकी आंखों में आंसू भर आए उसने रोनित के हाथ से दूध का बोतल लिया और दूध पीना शुरू कर दिया सुमोना अभी दूध पी ही रही थी कि आगे की सीट से मिस्टर मेहता भागते हुए वहां पहुंचे थोड़ा सा दूध मुझे भी मिल जाता तो भूख बहुत भूख लगी है बस थोड़ा सा हो तो दे दो